गीता अ अठारह के श्लोक नंबर बासठ में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेश्वर कौन है कहाँ है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन ना कोठी स्वाद लागे और ना कार में बैठने दी रहे अपना टाइम सा पास करके घिघी बंदी रहेगी तड़के मरूंगा परसों जाऊंगा पर दिन आ गया तो इस प्रकार उसने वो कह दिया तीसरे दिन मरेगी तेन बोली जी फिर क्यों कर ज्ञान बचे अक मेरी शरण में आ जा मैं काल में नजदीक नहीं आने देता मेरे नाम में वा सकती है कि जैसे फणपति के हैं सांप डोरे वाले ने कबीर जैसे फणपति मंत्र सुन भाई राख फण सकोड़ ऐसे वीरा मेरे शत नाम वो काल लव मुंह मोड़े मेरे नाम तय जो मैं नाम दो मेरा नुमाइंदा संत देवे उसके सामने काल नहीं आता अब उसके न सोची अब देखा यू भी लेके देख ले कदे साचे मर जा नो जी नाम दे दोगे नाम मैं देना बेटी और मेरा काम केस है पर पिछले का लारसा ना रखिए कदे दोनों नवा पपा घर गदा का उठे बोला ना जी फिर तो मैं क्या अरे काम करिए परसों तो मरेगी पर मरण नहीं दूंगा तेरा दिन है मरने का तो नो करिए इस नाम का जाप करती रहिए काल आओगा मेरे रूप में और अंत नो का मती तो बोलिए मत नो ना सोचिए देखो वैसे तो गुरु आवादर नहीं करे तो पाप होता है लेकिन ईब मैं कह के जाऊं सू आज्ञा तेना पूरा आदर करना जब भी हम दर्शन दें तो बोला अच्छा जी तो के करो कि नाम जाप करते रहिए दो मिनट के बाद तेरा असली उसका असली स्वरूप सामना आ जाएगा बोला अच्छा बोला जी ठीक से महाराज चले जाते हैं तीसरे दिन काल आवास दिन छपन तो थोड़ा पहले यानी तीन चार बजे ही और सिद्धानु बोले अंदर मती कबीर साहब का रूप बना के तो जब वह देखगी एक बार तो कसक उठी महाराज जी आगे फिर याद आ गया सतगुरु कह गए थे काल से खड़ी तो होगी पर नाम जपती रही बोली नहीं दो मिनट के बाद उसका काला चेहरा ओछा माथा और विकलार शरीर में हो गया फिर शरीर काले उसने खुद देखा काल में तेरा तो स्वरूप बदल दिया जरूर उसके पास कोई सबल शक्ति तगड़ी है तो इस इस प्रकार कह के चला गया कि तुझे फिर देखूंगा ईब तो तू बचगी चला जाता है रानी भी निश्चिंत हुई कट्टी रंग गढ़ी टली और शुक्र मुनावर खुश होकर सोगी ठाटते इतने में वो काल जो से सांपण का गया और पां पर डंक मारा और मारते आए खुल गई और फिर जाय साबुन राजगर न्यू करता हुआ मारा किल किधर के राजा वीर अनुचर वीर सब इकट्ठे हो गए मरूंगी मरगी मतलब खाली खाली अब देखो सांप जाओ जाओ जाओ इतना गुप्त हो गया देखा जरूर जाता सपना इतने में बंदी छोड़ प्रगट हो जाते हैं कबीर साहब और छोरी का उसका जहर तारा मंत्र से और फिर जिंदा कर दी पाँव पकड़ कर छोड़ दे नहीं उस रानी ने जब तक ने कह थी मैं व्रत तो मुक्ति करूंगी ने बोली महाराज मन नहीं दे रहा था बेटा मन न दे रहा था और इसीलिए कहूं था तेरे को कि कुतिया की जुनीम जाना था आज टिटवी ले जाओ पकड़ के दी उसके बाद इंद्रमुति ने डट कर बंदी छोड़ की भक्ति करी और सतलोगी इसके दौरान वह अपने पति राजा चंद्र विजय को कहा करती कि हे पतिवर आप भी परमात्मा स्वरूप भगवान स्वरूप अपने आए हुए हैं गुरु जी इन ले ले अब राजा ने क्या करता देख तू दान कर धर्म कर अपना कुछ भी कर चाहे रोज भंडारे कर पर मन नाम लेने की मत कहिए तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भाव है जैसे जवर के भेगते भाई भूख बेदा हो जाए ने बोला कि मैंने तो राज करना से पता नहीं कित कित जाना हो से मैं में बैठना हो से ऐसे करना पड़ जा से मैं नहीं ले सकता कबीर साहब ने बोले ले तेगा तो पर तेरी दाव दौड़ती हो लेगी जब लेगा भगत जी ईब को समझ में आया माया आने नहीं देती समझ में थोड़ा सा सुख हो जाए ना सोचा सदा के लिए हो गया तड़के टीटी पकड़ ले जाएगा गदा बना के क्रोडिया कुमार के हाथ में दे देगा है फिर दतियाण तो बरीट लाद के ले जाएगा आंधियाण तले तो कच्ची ले जाएगा ऊपर तो पक्की लाओगा एक मिनट की फुर्सत नहीं ई बिनो का हमने फुर्सत को ला ठीक से भाई बंदी छोड़ के हैं फुर्सत काट दे आकर ईब काट देगा तो गना बढ़िया रहेगा और फिर फुर्सत को नोनी एक भाई यू शरीर छूट गया तो फिर क्या बोली बिला ठीक से नो बोला जी ये बात मेरा आगे चलाया मत करो और राजा कहने लगे महाराज ने सोची भाई क्यों काली मनाई जब बोला ना ही सुनता कहनी थी वह कह दी ना मानता था मत तो माने क्यों है अब वह चालीस साल फिर जी जब पैंतालीस साल की उम्र थी जब पचासी वर्ष की उम्र में बुढ़िया होली जब बंदी छोड़ने बोले ईद के सलाह से तेरी चाल लगी गे सतलोक में महाराज जी बेशक ले चलो बेशक ले चलो महाराज मैं तैयार सारे फारे हुई सब कुछ हुआ महाराज जी लेकर उसकी आत्मा ने उस शरीर तक खोखा रहेगा जहां रहेगा और अपने लोक में ले जा रहे हैं तो रास्ते में मान सरोवर पर स्नान करवाते हैं इस आत्मा का जीव को ले जाकर ताकि रहे कई वह आवरण खत्म हो जाते हैं वहां सोलह सूर्य जितना प्रकाश इस आत्मा का हो जाता है सोलह सूर्य जितना आप देखो ना इसी आत्मा की शक्ति से हाथी भी तो बन जाए वो कीड़ी यानी कीड़ी में और वह आत्मा हाथी में हाथी ने इतने बड़े कुबाड़ में ठाए फिर लाग रही वह शक्ति है तो वहां जाकर फिर ने बोला बेटी एक बात और बता दे तेरे में जय कोई विक्षेप रह रहा हो कोई तमन्ना तेरे मन में हो तो फिर वापस अपना जन्म एक और चक्कर काटे ने बोली ना जी इसे बूंदे पे जन्म मैं तो वहां गंदी नहीं पर एक मेरे मन में विक्षेप नहीं कही कहूंगी लेकिन यू अवसर है रह कि राजा अगर मुझे वहां कोई इजाजत नहीं देता भक्ति की या धर्म की तो अब मैं आपको नहीं पा सकूं थी है और भाई मेरा ये है कि अगर वो राजा भी मान ले इस बात ने किसी भी जन्म में जी तो उस पर दया जरूर करती है आज के युग में औरतें अपने पति के अधीन होती हैं और जब वो नाट जाता हम गुरु को अंदर भी नहीं आन दे सकते वह और मैं भी जो गधे और कुतिया की जुनी में जाती ये अगर वो अधिकारी हो इस वस्तु का तो उसको जरूर संभालिए बोला कोई बात ना बेटी क्योंकि ऐसा पति जिसकी औरत धर्मात्मा हो और भजन करे उस पति को क्रेडिट जरूर मिले पर मुक्त नहीं हो सकता हाँ अधिकारी अगले जन्म में तीसरे जन्म में कभी न कभी फिर उसका लक्ष्य तो राशि काटे पाचे फिर जब मनुष्य जन्म होगा फिर राजा बना दिया जाएगा अगर नाम नहीं लेगा तो लक्ष्य तो राशि का फिर जरूर काट लेगा तो बंदी छोड़ने बोले ले वे आत्मा अंत जो है ना यही चाव है इतने में देखा है कि दो चार दिन लग गए थे राजा की भी शायद आ गई क्योंकि पटा लिखवा रखा केरा कोडबरटी टीवी गोच दे काड़ा कन और राष्ट्रपति के चार तो सारी पृथ्वी का राजा हो अब भाई का अंतिम समय आ गया राजा का चंद्र विजय का और उसकी टीटवी दाब रखी काल में यानी सबसे पहले जुबान बंद होती है नेचुरल डेथ जिसकी हो कुदरती मरे है जब सबसे पहले जुबान बंद होती है और घराटे बंद बन लग जाता है खराटे और टट्टी और पेशाब डरते की निकल जाए ऐसी बूंदी मुझे शक्ल न कर वो यम के दूताओं मोगरे लेकर किसी का छाती माट किसी का सूर के साथ उड और किसी का कुत्ते के साथ जब आदमी नो डर ऐसा है आदमी मनुष्यता होंगे कि मैं आत्मा जोड़ कर मना हो इनका आगे कवा अभी तक कवा कौन सी भाषा में ये सब भाषा भी ना जानते इतानदे तो कुटन लग गए हैं तो टट्टी और पेशाब दोनों निकल गए बंदी छोड़ कबीर साहब वहां पहुंचते एकदम उनके जाते ही काल के दूत भाग जाते हैं जैसे नो चील बैठ जा गिरद बैठ जाती हैं दूर जाकर के पर नो बाट देखे यू एक बार जावर तो फिर टिटवी दाबा इसकी अब राजा भी देखे कि इनके आते उसने होश आ गया और सामने बंदी छोड़ गुरु जी खड़े पाप पकड़ने वह देखे वह खड़े मोगरे और राज भी गया जब उसकी घिघी बंदी उसकी सोदी आई ये तो राज भी छुट गया ने बोला महाराज जी जीवन बचा लो ने बोला भाई महाराज हो रहा है तो वाई कुड़िया से नाम लेना होगा ने बोला जी कुछ भी कर लो मेरी जान बचा दो ने बोला आ गई समझ में अग आ गई ना कर ले राज और थोड़े दिन महाराज जी ईब ना कहो मैं तो महापापी जीव सो और मन बचाओ तो बंदी छोड़ दो बोले ना साइड दे खड़ा होगा नाया खूब सोच कपड़े पहने अरे नो दिखा हुआ खड़े इतना भयभीत हो गया तो बोला नाम लेर बैठ मेरे दो रहे कहते हैं आध घंटा नाम सुमन किया था महाराज पार ले गए अब पिछले संस्कार जो उसके शुभ कर्म थे वो सात ईब काम दिए जब नाम ले लिया बिना नाम के किया हुआ पुन कुत्ता बन जाएगा गधा बन जाएगा घोड़ा बन जाएगा कारा में चलेगा जैसे कुत्ता किसमिस के हलवे खा सकता है और फर्स्ट एड जैसी मेडिकल एड भी ऐसी मिल सकती है जो कि आम व्यक्ति मनुष्य के लड़के या तो बच्चे को मनुष्य को नहीं मिल सकती 500 500 रुपए के टीके भी लुआ सकते हैं पर भाई पशु जो नहीं तो नहीं बच सकते अगर वो नाम ले लेता भगवान तो वह एक कार सुविधा वही फैसिलिटी उसको मनुष्य जन्म में मिलती इतना अंतर नाम और बिना नाम के जीव के साथ बीते हैं तो अब कहते हैं जब इतना डर के भय में जो नाम दिया जाता है जैसे हाथी डूब ने एक गज गज के हाथी को अगर मगरमच्छ उसके पान पकड़ के पानी पीट गया था हाथी और गरा ने यानी मगरमच्छ ने पकड़ दिया खेचन लग गया अपनी तरफ कई हजार वर्ष कहते हैं उसका झगड़ा हुआ लेकिन हाथी बलहीन हो गया और पानी में मगरमच्छ ने खींच लिया जब जो वर्ष रह गया ना मरण लग गया जब उसने आधा भगवान का याद किया था यानी हे भगवान मुझे बचाइयो और तेरे बिना मरा कोई नहीं इतना कह पाया था मरती हान जो कर रहा आपके साथ ईश्वर याद करे इतना है बतेरा उसी समय कहते हैं विष्णु भगवान प्रकट हुए और उसको बचा लिया तो बाहर काट लिया जब ने बोला वह चल हाथी तो, तो स्वर्ग में मगरमच्छ बोला जी क्यों महाराज जी मैं भी तो मेरा मन ने कही तो साथ क्या उनका मुकदमा था दोनों में तो लड़ा थे आए क्यों क्यों स्वर्ग में वह मैं क्यों छोड़ा अगी इसने भाई नाम दिया अग महाराज जी देखो यू नाम ले था उससे दुख में उतनी जब यू कर रहा था ना मेरा भी कर रहा उतनी है थी भीतर ले में अग ईश्वर ने याद कर पर मानवस नहीं छोड़ू था देखो मन याद आप भी उतने आए बोला वह ठीक है तुम दोनों चालो स्वर्ग में महाराज के सत्संग सुनाने वाले में वह कसक हो और सुनने में वाय हो तो दोनों आपको बराबर यानी लाभ मिलता है तो एक बार कहते हैं कि जो रामचंद्र जी का दादा सतदिलीप थे उसको इंद्र ने बता दिया कि आपकी दो घड़ी की उम्र रहती है कुल ने बोला घी की गंदगी अकीब मैंने जो है कोई रास्ता बताओ अब भजन कर ले भाई नाम गुरु ने दे रखा जब तक नाम भी ले रहा था अगर भजन नहीं किया था उसने क्यों तो राज की ने बोला एक अरज से मेरी मैंने आपके इतने काम सार दिए एक मेरा कर दे क्या कि सरजू नदी पर भेज दिया मैंने सेकंड दाम ने बोला बैठ सिद्धि के द्वारा फट दे भेज दिया वहां बैठ कर जो उसने भजन किया दो घड़ी में वो उसी समय स्वर्ग प्राप्ति कर गया यानी इतने भयभीत होकर इस कराहट के साथ अंतम अंतिम समय समझ कर के दो दिन ईब आया समय और जब ईश्वर याद करे ना वो कहते हैं जो मरता हुआ अपनी जो परमात्मा की से अर्ज करता है वो अगर उस भाव से आप ध्यान लगाओगे ईश्वर को याद करोगे तो जल्दी प्राप्ति होती है तो इस प्रकार उस राजा को भी महाराज मुक्त करके वहां सतलोक भेज देते हैं बोलबंदी छोड़ मारा तो कहते इंद्र मती पर काल झपट्टा सतगुरु करी सहाई और कमाल कमाली जीवित किन सत कबीर दुहाई ये आपको हमने पहले बता दिया था कमाल और कमाली कैसे जिंदगी और वह सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामाती है अब सिकंदर की आपको आगे और सुनाते हैं राजा सिकंदर बहुत दुष्कर्मी राजा था मुसलमानों हिंदुओं से मुसलमान बनाया करता था अब देखो भाई कीकर बोगा वो भी बड्डी होगी और उसका फल भी आओगे आम बोगे तो आम भी लगेंगे अब हम बुरे कर्म करते हैं वह भी प्रफुल्लित होते हैं फलीभूत होते हैं और बुरे कर्म भी फलीभूत होते हैं और भोगने पड़ते हैं अब जब तक राज के अहंकार में भाई सदा राजा रहेगा बिराना के के को बदकरी फिर उसका ऐसा ऐसा रोग हो जाता है कि तैलाज नहीं हुआ सारे शरीर में जानो आग लागी नो जैसे जड़ जड़ा करे ना किसी की आंगली जड़ी हो कभी पैर कितना दर्द होया करे उसको उतन, उतना दर्द सारे शरीर में उसको हो रहा है बिना आग लगे उसको जलन का रोग कहते हैं उस दस दुष्कर्मों के कारण उसको इतना परेशान होना पड़ा भाई फिर जो है ना पिता तो मौलवी बुलाए भाई मेरा जाड़े जपटे ला दो सारे कर लिए और हिंदुस्तान का बादशाह होते ही कसर नहीं छोड़ी दवाई बूटीकरण करण खातर उस समय ऐसे बैग थे कि इतनी दूर तेनो आदमी की शकल देख कर बता दिया कर दे इस बीमारी से ग्रस्त है या दवाई लागेगी उसे उसे वैद भी बुला लिए पर दवाई नसर नहीं करा जब कर्म माँ पाप कर्म बढ़ जाएंगे जब यह दवाई रिएक्शन करना शुरू कर दिया करे या सत्कर्म मांगे तो वे राजा ने सोची ईद का तो अंतिम समय आ गया किसी भगत ने बता दिया कि जी काशी में एक बहुत बड़े परमात्मा स्वरूप कबीर साहब रहते फिर उसको याद आया अच्छा अच्छा अच्छा वो कबीर अखा जी वो कबीर जिसने वह गौ जवाई थी अब उन्होंने बोला अरमन तक था तो थी बूंदी उनके ला उन्होंने बोला जी संत काली नहीं माना करते आप एक बचा कर तो देखो राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर मंत्रियों को हाथी घोड़ा पर दिल्ली से और काशी पहुंचे उस समय काशी का नवाब वीर सिंह बघेला था वीर सिंह बघेला पहले से ही बंदी छोड़कर शस हो चुका था कबीर साहब का हिंदू राजा था तो नवाब ने पता चला कि भी बादशाह आ रहे हैं तो उन्होंने राजभवन खुलवा दिया जैसे आजकल रेस्ट हाउस होते हैं ना मंत्री आते हैं या बाहर के जो वीआईपी हैं उनके लिए आजकल रेस्ट हाउस बनवा रखे उस समय राजभवन बनवाया करते अलग से नवाब अपने राजा के आने का अलग से प्रबंध किया करता राजभवन में जाकर सिकंदर बैठ जाता नवाब आगे खड़ा हुआ था आप महाराज जी कैसे दर्शन दिए परवरदिगार नो वीर सिंह मैं तो अंतिम समय पर हूं भाई और बहुत दुखी हूं के बात महाराज की ऐसी बीमारी है कि कहीं भी इलाज नहीं हो रहा यहां सुना है कि कबीर नाम के कोई संत हैं और वो इस बीमारी ने काट सकते हैं कबीर साहब का नाम लेंदे और वीर सिंह लाकर तो सारे शरीर में जानो बिजली का करंट ला कर बोला महाराज पहले संत के चाड़ा उनकी रजा तो होगी ना तो आपका कोई कष्ट नहीं रहेगा नु बोला भाई बुला के लिया देखो जी आप मालिक हो वैसे आपका हुक्म सिर माथे पर संत ने बुलाया नहीं करते आप जाना चाहिए सिकंदर इस बात में पकड़ गया भाई ठीक है यहां बुलाऊंगा तो वो तो नहीं समझेंगे कि वो तो राजभाव से बुला रहे हैं और उनके हाथ में रजा बख्शे तो से के दो रखड़े रहे जिस पर रजा करनी है उस सब क्रिया करें तो वहां से चल पड़ते हैं अब बिल्कुल ठीक है जाके पता चला कि वो ज्यादातर रामानंद जिया के आश्रम में रहते हैं वहां चले गए कि वही पता कर लें पहले और फिर उनकी झूफड़ी में चलांगे जहां अपने घर न रहा करते जाकर पता किया पता करने के लिए संदेशा भेजा रामानंद जी उस समय भी हिंदुओं से तो जात पात खत्म हो गई थी पर मुसलमानों से नहीं हुई थी अब बंदी छोड़ने वा थोड़ी सी रड़क रामानंद जी की ओर काटनी थी गुरु जी की ना तो बंदी छोड़ पहले भी मिल सके थे उसको तो संदेशा भेजा सिकंदर लोधी ने कि कहो दिल्ली के बादशाह कबीर साहब से मिलना चाहते हैं और रामानंद जी के भी दर्शन करना चाहते हैं संदेशा आ गया कि कह देना उसको पामर को कि हम उनका दर्शन नहीं करते मुसलमानों को हम दस दर्शन नहीं करा करता मैं अब वही बादशाह में फिर बादशाह अपना उफण गया नो बोला दो अन्ना का आदमी एक छोटे से आश्रम में चौड़ा हो गया नू कह है कि मैं दर्शन नहीं करा करता काट का तलवार और जाकर रामानंद की नाड़ काट ली स्वामी जी की दो टुकड़े और ले भाई और जब एक बात मन को क्रम करवा दिया फिर सो तोड़ी आ जाए इसने फिर नो बोला वीर सिंह मेरे तो घने खोटे ला गए अकी बात महाराज जी अक बात के दिख दिन इतने सामने आया था इलाज करवाने खाते ये कद्दे भी ना हो मेरा इलाज क्यों उनके गुरु मार दिया दे मेरे खोटे ये कर्मागत आगे चालना से मैं बोला कि के बताओ महाराज आप मालिक सोई माँ आपको के बता सकता हूँ जो माथे भाद रखे बोला चाल बीरा तीन कोई इलाज नहीं बाहर निकला है तो सामने बंदी छोड़ान लाग रहे कबीर साहब वो तो इतना ही समय चाहे थे कि भाई यू कर ले बाहर निकले सामने आन लग रहे धोती कुर्ते में बावड़े से अगजी ये से बंदी छोड़ कबीर साहब अब के मैं तो वो भय अर के मैं दर्द अबीर सिंह बघेला लंबी डंडोत करी बंदी छोड़ कर अब सिकंदर फिर मरता के ना करता वो भी अपना सजाए ताज और मुंदा लोटा बंदी छोड़ना हाथ ला के बोला उठियो दिल्ली के बादशाह कैसे दर्शन दिए हाथ लानते ही सप्रस करते ही जनु दर्द नाम की कोई चीज नहीं थी बोल बंदी छोड़ मारा कैसे दर्शन दिए महाराज ये दिल्ली के बादशाह अब न्यू कह के सिकंदर रोन लगे अकरब बात तो बता अब जो काम आया था वो तो मेरा आपने दिया कर पर यू फिर दोबारा होगा क्योंकि उन्हें बेरा था भीतर जाने पता चल लगा गुरु काट दिए और फिर यू अपनी उल्टी छोड़ देंगे या कि दूर से मेरी फेर से आज से नु बोला महाराज जी मेरे से ऐसा कसूर हो गया कि आप माफ नहीं कर सकते नु बोला रहा क्यों बात तो बता अकना जी आप माफ ही नहीं कर सकते बंदी छोड़ नु बोला कर दिया कर दिया कर दिया वो तो जाने थे कि राजी होगा ई बताओ तीन बार वचन भर लिए मैंने माफ कर दिए ने बोला जी ऐसे ऐसे मतलब सारी कहानी बता दी मैं महापापी जीव सो और एक महापाप और हो गया चलो भाई कोई बना आपके गुरु जी की नाड़ काट कोई बात नहीं नौकर लाकड़ी दे चार ये संगवात चलना उसने हौसला हुआ किसी ने कुछ मैं ना करी वह गुरु जी की नाड़ कट रही है को इसको मायने नहीं रखते महान संत महानता में कोई कमी नहीं आगे गुरु जिया की चादर गिर रखी एक धड़ पर न्यारी और सिर पर न्यारी चेला चेले बाजे आए तो कबीर साहब आगे पहुंच गए थे दस कदम आंधे ने बोले कबीर साहब हाँ भाई गुरु जिया ने मार गया सिकंदर लोधी तो बोला कोई बात ना भाई राजा का काम तो मार काट का होया करे या तो कोई बड़ी बात इतना बादशाह आगे उन्हें देकर शिष्य तो फिर गिगी गिगी फिर आ गया वह कूण में जा चिपे बंदी छोड़ जाके कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणा के चादर समेत हाथ ला कर बोले गुरु जी ए महाराज उठियो देख दिल्ली तो बादशाह आपका दर्शन चाहते हैं नौकन कंधे वो धड़ इतनी दूर तक शर उस धड़ पा आकर जुड़ गया और रामानंद बैठे हो जाते बोल बंदी छोड़ मार ये तो 600 साल पौने 600 साल पहला बल्कि साढ़े पांच सौ पुराना दो वर्ष पुराना इतिहास है दीरा यू पांच हजार वर्ष पुराना को नहीं तो देखो उन्होंने सोचा उन्होंने मिर्च मिला रखी होगी एकता ही हस्तलिखित लिखित पुस्तक भी मिल जाएंगी उनके समय की और ये गरीबदास जी तक दिन पुराने ना हुए ढाई सौ यानी पौने ढाई सौ पौने तीन सौ वर्ष ही इनको जन्म सन सत्रह सौ सत्रह में आए थे और सन सत्रह सौ अठहत्तर में शरीर त्याग कर गए थे देख लो कितने दिन हुए इसको 220 साल वो शरीर छोड़ हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा 19 साल तो इस प्रकार <clears throat> गढ़ा पुराना झूठ नहीं सही कति साची है तो इस प्रकार ये चमत्कार देख के तो रामानंद जी आते हैं कबीर साहब ने कबीर रामानंद जी कबीर साहब से बोले कि हे कबीर एक बात बता भी मेरा शरीर कटा और ये आधा दूध आधा खून न्यू क्यों है कि बंदी छोड़ मेरी बात पे आपने एक बालक समझकर आधा असर कर आप अभी भी नफरत कर रहे थे इन मुसलमानों से यहां कोई जात नहीं है गुरुजी ये बनावटी खेल से उसके बाद रामानंद जिया ने कति निर्भय होकर के प्रचार किया और कोई जात पात हिंदू धर्म मुसलमान का कोई मर्यादा नहीं रखी इस चमत्कार को देख कर सिकंदर लोधी ने बंदी छोड़ कबीर साहब के पांव पकड़कर छोड़े नहीं ने बोला महाराज इस दास पर कृपा कर दो हमारे घर न चलो आप दिल्ली चलो ने बोला दिल्ली मर मेरा की काम भाई महाराज जी चाहे दस दिन खातर चलो हमें अर्ज करूं सु आप पे जरूर चलो सतगुरा ने सोची कि इसे बूढ़े पाप कर्म अगर बच जा कितने जीवों को सुख होगा जब राजा इस बात ने मान ले मेरी ने तो अपन कर खत्म होगा भाई हिंदू से मुसलमान नहीं बनेंगे गौ हत्या नहीं होगी इन्होंने बोला जी एक शर्त पर चालू अके आने वाले समय में कोई जीव हिंसा नहीं करोगे अग नहीं करूंगा भाई हिंदू से मुसलमान नहीं बनाओगे अग नहीं बनाऊंगा अक तो चाल गया चल पड़े अब रास्ते में आओ थे आपको हमने बताया कि कमाल नाम का एक लड़का जीवित किया जब वो रास्ते में पड़ाव डाला हुआ था तो कमाल नाम एक वैसे लड़का था उसका नाम तो कुछ और था दस बारह पंद्रह साल का तो सतगुरु महाराज ने जिंदा की फिर आ जाते हैं काशी में काशी में आकर कमाल कमाली जीवित करी जो कि शेख तकी उनके धार्मिक गुरु की लड़की थी जो कि आपको पहले वर्णन दिया हमने अब जो सिकंदर लोधी था उसका पीर शेख तकी उस शेख तकी का जड़न और होगी दुख हो गया कि भी तेरी चौधर कम होगी कबीर साहब की बढ़ गई किसी तरह इसका इसको ईसा नीचा दिखाऊं कि यहां पर कति चला एक दिन घने मुसलमान इकट्ठे करके ने बोला भाई एक परीक्षा और लेंगे इसकी कई भगवान से क्या कि उबड़ते हुए सरसों के तेल में इसने डालेंगे जय परमात्मा होगा तो कबीर नहीं जड़ेगा और भाई परमात्मा नहीं होगा तो इसकी ढूंढे नहीं पाओगे अब सारे मुसलमान बांध बांध कर पगड़ी और जाका सिकंदर लोधी तेने बोले जी मारी एक बात सुन ले देखो आप राजा हो पर हम इस काफर को आपके पास देखकर खुश कती नहीं राजा ने बोला भाई इस बिना मर रह नहीं सकता भाई कुछ भी कहो ने बोला कि क्यों कि अल्लाह की जात यू परमात्मा स्वरूप से अगर परमात्मा हम इसकी एक परीक्षा लेंगे अकेलों के उबड़ते हुए तेल के कढ़ाई में घेरांगे जब जिंदा रह गया तो हम इसने अल्लाह मान लेंगे अब सिकंदर लोधी महाराज के चरणा में जाकर रोन लाग गया की बात भाई अकमारा जी मेरे जयन समस्या होगी उनकी नहीं मानो हो तो मेरे राज में खतरा है और आपको कष्ट दो तो मैं पापी कहूं अग्ना तेरे के कोई दोष नहीं उनको कह दे जो वो करना चाहो कर लेंगे राजा ने बोला भाई देख लो सारी जो कर सलाह उनने के कराया ये जो कर जीबीएसई करके बहुत मतलब बहुत बुरी तरह बदले की भावना में इतना बड़ा कढ़ाया और भट बाड़ दिया तला तो नो कति पाड़ लाकड़िया किड़िया का और इन्हों खोदड़ खोदड़ उबड़ो तेल तेल तब गर्म तो थोड़ा है बहुत कसूता हो से और न्यो उबड़ा रोंद न्यो बोला इसने मैं गेरो ठाक कबीर में बंदी छोड़ में बोले गेरो क्या की खातर बाऊ बैठ जाएगा कई खड़े बहुत घने खड़े चौकर देकर बंदी छोड़ उठ कर टुड़क देसी उसका ढाई मजा बैठा अरनो बैठा आर पहले तो इतना डूबे और फिर आराम से उसको ऊपर आ जा तो शेख तकीनो बोला दी इसने मंत्र तय तेल की तासीर ठंडी कर दी अब सिकंदर ने बोला रहा कि मैं करैक नहीं यो तो कर दे इसने ठंडी अतः बोला लिया देखू तो ठंडी है कि नहीं आंगली देने लग गया सिकंदर कबीर साहब ने बोला आंगली मत देना राजन तो ही नहीं पावेगी कदे को सोचा कि शीला हो रहा है तो उबड़स सा और फूक कर दर्द पर ना डटी क्यों बैठा जब तेरी के जलाएगी ठह दी जितनी आंगड़ी गई थी कट के बार और बेहोश होकर गदा उठा बंदी छोड़ बाहर आए आके उसको फिर जी होश में लाए और वो आंगड़ी की इतना दर्द फिर बेहोश बंदी छोड़ने नू करके वो आंगड़ी पूरी कर दी वह कटी हुई नहीं रही बोल बंदी छोड़ मारा सिकंदर ने बोला ले लिया अपने फूफा की क्यों मरवाओ समुन्ने भी तुम है ये दो जोड़े हाथ तुम बख्श लेन बस लेन दो हमने तो जब तवा चले गए बीस एक दिन पाछा फेर नु बोले जी एक परीक्षा और लेंगे कि अक को एक धेरे कुएं में गिराएंगे और ऊपर तो हम घास फूस ईट उसने दर देंगे जयु की तो फेर लिखड़े आता हम इसको भगवान मानेंगे अब सिकंदर लोधी के कब बार बार अपने गुरु ताई बंदी छोड़ुड़े बैठे थे ने बोला भाई ठीक से मन मंजूर से पर तुम मानते क्यों नहीं रोड़ा यूस है मान लो ना तो कोई डर नहीं चाहे सौ परीक्षा ले लो बोला ना मानना किसे नहीं वाह भाई वाह बोला अच्छा ठीक से उन्होंने सोची कभी सा इलाज से लेकर किता तेल का तो ऊपर आ गया था उन गेर के महाराज को जुड़ के खूब अच्छी तरह बांध कर दे का गोड़ा खीर पाछे तो बांध कर गेर के झेरे में अर्नोकतिर मट्टी की ईंटक छिड़ेक गोड़ेक कूट दिए न जो कर दर्दे हुए मंडेरा करने गेर कर जमा कति नहा धोकर पगड़ी बांध कर सिकंदर लोधी दो रजा जी करैतरे शेर का काम उड़ा देखे बंदी छोड़ दो बैठे आसन पे ने बोला महाराज ताड़े थे कि गए तो इतनी महान शक्ति सतगुरु कबीर साहब हैं पर अनजान व्यक्ति ने को देख कवि था चलो भाई कह ले तुम धारे लेके लाल में कोडी कहने तक कोडी हो सके तो इस प्रकार सतगुरु महाराज के सिकंदर की जलन बधाई वो तो करामाती है इसे इसे दुख दूर करनिया बंदी छोड़ है एक बिजली खां नाम का पठान था मगर देश का राजा वो भी बंदी छोड़ में समझाया बहुत पाप किया करता था शरण में आ गया पाप क्रम छोड़ दिए सतगुरु का प्यारा हंसवा तो यहाँ कहते हैं मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है बिजली खान पठान सुल जाया और अब राम सुल्तानी बिजली खान पठान जाया और अबराहम सुल्तानी इंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी वेद कतिब कह एक कहानी कोई जात न पाती है सतगुरु अपना साथी है मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी है जो चावे सो कर दे सतगुरु भरम पढ़ो मत कोई भाई सेव दड़पे शीश चढ़ाया पक्ष करी रसोई जो चावे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई सेव दड़पे शीश चढ़ाया पीछे करी रसोई माँ बेटे की चौरासी खोई या कथा बताती है सतगुरु अपना साथी है मूर्ख वाह काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी है अब कल आपको बताया था कि जगन्नाथ के मंदिर को भी बंदी छोड़ कबीर साहब ने बनवाया था और उसका प्रमाण है कि आज भी उसमें छुआ छात नहीं है और जब से बना था आज तक सभी धर्मों के सभी मजहब के सभी जाति के लोग वहां जाकर आत्म कल्याण दर्शन करते हैं तो कहते हैं जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई साहेब कबीर के तेज के अग फीका पड़ गया भाई जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई भाई साहेब विपर रूप धर दई दुहाई मेरी ना कुछ पार बसाती है सतगुरु अपना साथी है काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है आपको परसों बताया था कि एक जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडा था उसके पांव जड़े था ऊपर तक टोकनी तारे था आपको अभी दिखाते हैं थोड़ा चित्र ये भगत जी लेना इसमें ये सतगुरु की लीलाएं कबीर साहब की आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं ये ऊन ही बड़ा करती बहुत सतगुरु की रजा हुई तो एक समय वो जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ का पांडा जो मुख्य मुख्य पांडा था वो अब वो था ऊपर तक टोकनी जो कि ऊपर नीचे गढ़े हुए आकर मतलब धरते हैं एक उसका ऊपर एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर है तो चार पांच धर देते हैं लगातार नीचे से जलाना शुरू करते हैं और जब वो खिचड़ी सबसे पहले ऊपर ले में पकया करें और ऊपर लतारना तारना पड़ा वो कितने एक फालतू धर गया दिन एडी खा गया तारा था और वो उसके ऊपर पांव पड़ गई उबड़ती हुई खींच ली और पड़ते ही यानी एक मिनट भी देर हो जाती ना गर्म पा, ठंडा पानी पड़ते तो कपी खत्म हो जाता पंडा भी मर जाता ऐसा बताया सतगुरु महाराज ने तो उसी समय सतगुरु महाराज जानु उड़े खड़े थे कबीर साहब उसने उस पांडे के पाप है और मटका जैसे बर्फ का पानी गिर दिया हो इस प्रकार किया तो और उससे पहले महाराज कबीर साहब उसी समय सिकंदर लोधी के राज दरबार में बैठे हुए थे और वहां बैठे बैठे आसन पर तो उठकर अपने लोटे में तो पानी और पांव पर गिरा अपने पे अब सिकंदर कहने लगा हे महाराज ये की कारण से सतगुरु तो बंदी छोड़ने बोले भाई जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडे का पांच धड़ जाता खिचड़ी पड़ गई थी वो मर जाओ बेचारा और मैंने वहां जाकर उसकी मदद करी <laughs> बोला हसन ला गया दरबारी जितने थे अगली देखो नरा गपोड़ मदर जगन्नाथ का मंदिर कीत और ये कहा और इतनी दूर कभी पानी बोल सके कहते हैं दो वो भेजे सूत्र सवार ऊंट के जो है ना सिपाही भेजे ऊंट पर और पता करके वो नाम पता उस पांडे का हमारा धनुर्वेद बता दिया इस नाम का पांडा यू सुने तो उसने जाकर चार पांच दिन में पहुंचे तो दूता ने पूछा कि महाराज भाई इस नाम का पांडा किस है ये भाई देखिए हमने देखा कि सतगुरु इधर का पांप है अपने पानी डाल रहे हैं पग पे और उधर से जगन्नाथ के मंदिर के पांडे का पांव पर खिचड़ी पड़ रही है तो वह दूत पहुंचे दोनों जान देने बोले भाई इस नाम का पांडा कौन सा मैं सुबाई तेरा पांव जल गया था फलाने दिन हाथ जल के मर जाता मैं तो किसने बचाया साहेब कबीर ने कौन कबीर कांसी वाला कबीर यहां का जाया रोज आवा यहां तो अरे ये सारे उनके दर्शन करते हैं भगतजन रोज आवा है कहाँ रोज आवा बोले लिख देगा लिखवा ले वैसे गूठा टेकवा ले लिख के सारा कुछ लिखवा लिया और दस बीस आगे गूठे टेकवा लिए गवाही के रूप में और दूत आगे आगे बताई दी सही बात शायद कोई झूठ नहीं तो यह कहते हैं राज राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पै डाला पानी जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पै डाला पानी जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी दूत भेज के पूछी कहानी जो कि तो ही पाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु अर्दम साथी है मूर्ख मनवा काहड़ की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है उबड़ते तेल के बर्तन में डाले वो बंदी छोड़ कबीर शेख तकी का मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर आ उबड़ते तेल के बर्तन में डाले व बंदी छोड़ कबीर शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर डाली उंगली ना सही पीर सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु अर्दम साथी है मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु हरदम साथी है सतगुरु अपना साथी है एक समय एक शेख तकी कसूती जलम बहुत बूंदी हो है ईर्षा शेख तकी ने सोची एक रोज कवा हा सिकंदर ते दाक है किसी ने न्यो कर दो न्यो कर दो न्यो ठीक नहीं सुना आपका काटना एक दिन सुसरे रांध कटे सारे लेकर दस पीस तो अपने मुसलमाना ने और महाराज की कुटिया में पहुंचे अपने घर पर उनके बस सुबह थे ठाठ पे खाट का ऊपर वह तो सारी जान थी सेठ तक इन्हें बोला अच्छी लड़ मूछ दियो उसमें गेल जा रहा और दस पंद्रह कुंगराम ले रहा सबके हाथ में कर दे जो कर सानी काटा करे ना न्यो काट दी अकेले देखा इबका देख और वह बाहर बिना लकड़े थे बंदी छोड़ खड़े हो ना बोला रहा सेठ तक ही चा पानी तक पी जाओ तुम्हें उन्हें देखा कि तो यू खड़ा हो गया आधा की तो टट्टी पेशाब और भाई कुछ एक बुखार चढ़ गया ये जीवन की ये तो भूत जंग सहे तो है मार के कई दिन में तो बंदी छोड़ने जाकर उनका बुखार तारा भाई मैं था और मैं मर नहीं सकता क्यों तो क्यों आवरिश की गेल और ठीक सो दो तो एक दो तो मर गया बाकी दो बुखार में पड़े थे उनको बंदी छोड़ने जाकर समझा जब वो उठे तो यहाँ कहते हैं साहेब कबीर को काटन चाला शेख तकी जलील आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील आ साहेब कबीर को काटन चाले व शेख तकी जलील आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझे नहीं खलील भाग गया ना लाई ढील साहेब को हंसी आ जाती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु अर्दम साथी है मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु हाँ साथी है सतगुरु अर्दम साथी है अब कहते हैं बंदी छोड़ के इसी इसी बावन परीक्षाली शेख तकी ने भाई शेख तकी न जुलम गुजारे बावन करी बदमाशी खुन्नी अथी अगे डाला वो बांध जूड़ अविनाशी एक समय की बात है कि महाराज को कबीर साहब की परीक्षा लेने के लिए हाथी खुन्नी हाथी का ऊपर छोड़ दिया उनको ऊपर और बांध कर जुड़ कर मैदान में गिर दिया और सिकंदर बैठ गया नो जो करीब सामने ब्रंडाइश इसका ऊपर छात पे और ऊपर छात पे भी चुबारा बनवा रखे और बीच में बंदी छोड़ और न उन तक खुन्नी हाथी और ऊपर माहौत बैठा और हाथी ने लिया उसका नहीं और अथीन महाराज ने शेर का रूप दिखा दिया वो भी बोबर शेर केरी का अथी तो लीद कर चिंगाड़ मार डाक ठोके माँ उतने सोची आज मर गया तू तेरी नौकरी जागी इतने कोल्लू माँ का पीड़ेगा यू हाथी भाज गया उसका बाले बैठा और फेर लिया हाथी इतनी दूर आ और फेर चिंगाड़ मार डाक ठोकर लीद कर पूछड़ बोचे अब महाराज ने सोची इस जीव की के गलती से माँ ने दर्शन महाराज ने भी माहौत को भी शेर का रूप दिख गए माँ उसके हाथ तो भाला और अंकुश सब दूर तड़े हाथी से दड़ पड़ा नो बोला भाई ये दोनों मरेंगे फिर बंदी छोड़ खड़े होते हैं खड़े हुए तो उस सिकंदर लोधी को भी काल का रूप देखे इतना भयानक उड़ेत कापण लग गया नीचा आ गया नो कांपता हुआ मेरे तो गलती होगी मार लो चाहे छोड़ दो मैं आपका पापी सो इतने चमत्कार देख के भी सिकंदर लोधी का फिर मन फिर गया था कदे सच्चे भगवान ना हो और हम दो चार कथा सुनकर जावा सा हमारा मन फिरना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि माया का बहुत तगड़ा प्रभाव काल का तो फिर पांव पकड़ दिए ने बोले जी मेरा तो गलती होगी आप अल्लाह की जात सो फिर नो सो बोला कोई बात ना भाई माफ कर दिए शेख तकी ने जुलम गुजारे बावन करी बदमाशी खुन्नी अच्छी अवे डाले व बांध जुड़ अविनाशी हाथी डर से भाग जासी दुनिया गुण गति है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु अर्दम साथी है मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अर्दम साथी है सतगुरु अपना साथी है फिर एक बार क्या हुआ कि जब डा बसाई ना कति शेख तकी की आ, क्या नाम है और छका दिए उसने ने बोला इसी झूठी चिट्ठी घेर दो और देश कट्ठा हो जाए हाँ, और रोटी जो कह दियो कबीर साहब भंडारा करेंगे भाई उसने को लाखों के पास आश्रमों में महामंडलेश्वरों के पास घर घर में सबको चिट्ठी भिजवा दी कि फलानी तारीख में चौदस का दिन और कबीर साहब जो है ना भंडारा करें दो रोटी का ब्योतनी ताणी बना करते और जितनी बिक जाती ना जैसे पांच रुपया की बिकगी बनाकर और घर दो रुपया की भोजन की जरूरत थी राशन की तो दो रुपया का लाकर तीन रुपया का वही भूखा बांटा करते बंदी छोड़ कहते नित बुन कपड़ा देते भाई जाकर नौलख बाल दाई ई बाओगा उस एक दोहे का इतना बड़ा विस्तार है तो जी सबने चिट्ठी डाल दी ठीक निश्चित दिन को लाखों यानी अठारह लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए अब सुबह सुबह का समय रविदास जी ज्यादातर कबीर साहब के साथ रहा करते थे नो बोले रविदास जी बोला जी मैं घूम हूं कबीर साहब ने तो रहा था सारा नो बोला घूमया मड़ा दिन जाइए पहले न्यून जाया करते ने तो बोला नोन बड़ा खुला मैदान सा दूर ते घूमे आओगे कई दिन हो गए घूमे वह नोन गए तो देख तुरा बोलो यो यो इतना देश क्या खातर इकट्ठा हो रहा नो बोले भाई किस तरह भगत जी हो महाराज जी हो कैसे दर्शन दिए आज नो बोला अरे काशी के काशी ना बेरा लोग पागल है सबने पूछना आज क्यों करे आगे सबने पता नहीं क्या कहा कि कबीर भंडारा करेगा भाई कौन कबीर के काशी वाला कबीर जुलाहा कबीर बोला कोई चिट्ठी पत्री है थारे दौरा देख जुड़ सर देखो जुड़ फुर्रा देखा मैं बोले ये देख सारा दौरा है किसी टट्टी जाता बेचारा वो तो गुम उल्टा हो लिया आ कहने बोला महाराज जी कहा भाई आ तो कांसी छूट गई अगर ऐसी बूंदी क्यों बोला तड़के तड़के बोला मैं क्या बोला या देश कट्ठा हो रहा यार कैसे अक भाई अब तो कबीर साहब ने भंडारे खातर बुला रहा है अठारह लाख आदमी पड़े से जिसमें महात्मा वीर आम व्यक्ति भी तो महाराज जी ने बोले वह कुआड़ मूंद ले और भीतर बैठ जा आम किसे पूरे खुआवा थे ना अपना कुआड़ा कौन खोल देने अपन चाल जाएंगे अर्जन छिपे पाछा अपना जाते रहेंगे अड़ित की तो और डेरा डाल लेंगे तो रोज का मुकदमा हो गया कदे कहे मां जिंदा कर दे कदे कहे बाबू ने कदे कहे हाथी का के गेरे बैठे रोज के मुकदमा नहीं उठता आप आध रात में चाल पड़ाएंगे मिला यह भी सुथरी बैठ गए पर ये तो परमात्मा थे के खेल करे हैं इक्कीसो नाम के बंजारे का रूप बनाया और नौ लाख बैला के ऊपर गधा के सी गुण हुआ करे गोरे हुआ करते पहले बैला पर रखा नौ लाख बैला में पके पका समान कत्ती जो ताजा और तीन दिन तीन नो का नो रहा तीन दिन भंडारा चला था और लाकर उस तंबू ला दिए चौपड़ के बाजार में काशी धाई बहुत बड़ा आश्रम बनाया हुआ महाराज का वहां को रोहतक जितना मतलब खाली स्थान था सारे रोहतक में वहां जाकर के तंबू ला दिए केशव नाम के बंजारे ने और सबको भंडारा शुरू कर दिया और खाओ और बंदी छोड़ की जय बोलने जय कबीर जय कबीर हो रही अब शेख तकी सिकंदर लोधी ने लेके आज रट्टो या नहीं पाओगा शेर इनने जो गुरु मान रहे थे और तेरी चौधर हो जाएगी अब जाकर देखे कि भंडारे का चाड़ा पाट रहा खूब जो मनमाना भोजन खान लाग रहे लाडू जलेबी चावल खीर सब कुछ मिल रहा है अब सिकंदर लोधी सारे मेले में कर मैं अब कबीर साहब कहा और उसको बिलावजी वो एक आ रहा है उसको उनका सेवक है और यहाँ बैठा है केसो नाम बता उस दो रह गए भाई तुम कौन सा अक मैं कबीर साहब का पगड़ी बदल यार हूं और उनकी एक चिट्ठी मेरे दो रवि गई थी कि एक छोटा सा भंडारा से भाई आ जाइए कि मैं सामान ले आइए आराम तो वो भाई पगड़ी बदल यार से दोस्त का अगर मुसीबत में काम नहीं आए तो फिर किसे दोस्त ये छोटा सा भंडारा करना रहा सो होट बड़े तो छोटा सा भंडारा अब सिकंदर वहां तक चल पड़ा और कबीर साहब की कुटिया धोरा उसने कोठड़ी में मकान पर और कुआड़ खड़खड़ावा है ने बोला रविदास ने बोला बोलिए मत ने साडा भी आ गए तो, तो ने बोला महाराज जी कुआड़ खोलियो दरवाजा खोलना महाराज परवरदिगार अरे कौन सा भाई कि मैं सिकंदर लोधी हूं दिल्ली का बादशाह आपका दास सेवक हूं ने बोले जी हम ना तो कुआड़ खोलते अरना <clears throat> आज तो पाछतरी का इसका सिमरा ये तो रोज की रोज नए नए मुकदमे आव से आदमियों के अठारह लाख व्यक्ति आ रहे हर इनको भोजन बताओ मैं दो रोटी तो वैसे साधन मेरे पास और इस दो तीन बालक से माता पिता से इनको ताणी बनकर खुआ अरे और इन मैं कहा से भोजन दू महाराज ये रोजाना का मेरे पे नहीं उठता मैं तो आज रात दिन दिन कट गया ना तो रात में यहां से चला जाऊंगा सिकंदर नो दिनों बोला बंदी छोड़ किसे और न बेकू बनाइयो हमने सारा देर आपका एक बार खोलते तो दो दरवाजा दर्शन तक कर लू आपके न बोला भाई खुलवा तू तो खोल दिया करो सीधा पाया पड़ा ने बोला बंदी छोड़ एक बार चालो तो उस मेले में आपने के रंग ला रखे हैं कहते हैं सिकंदर लोधी ने जब कबीर साहब वहां से घर पर चले तो रविदास जी आगे हाथ में चौर था उन पर चौर करते हुए चले और जब खड़े हुए ना बंदी छोड़ करते हैं आकाश में फूल बरसे उनका ऊपर जब बंदी छोड़ खड़े हुए चालन लागे ऊपर तो फूल पटर पटर पड़े बिना किसी वृक्ष के ना बरसाए हुए तो सिकंदर लोधी ने चौर ले लिया रविदास जी महाराज जी आप भी बैठो हाथी पर बिठाए चंडोल पर और पाछे तो बैठकर दोनों संता पहनो कबीर साहब पहनो चौर करता हुआ और मेले में ले जा मेले में जाकर देखा है भाई जड़ा देखा उड़े जय कबीर जय कबीर हो रही तो केसो नाम का बनजारा का एक दूत आया कबीर साहब आपने केसो साहब बुलावा महाराज जी और सिकंदर लोधी रविदास जी तीनों उसके सोआड़े तंबू में चले जाते हैं जहाँ अलग से हुआ आराम से बैठा हुआ तो जब भी कबीर साहब पहुंचे तो खड़ा होकर चरणा में दंडोत प्रणाम करी कबीर साहब ने बोले मैं तो आपका दास हूं आपने बहुत काम किया मेरा एहसान सुना आपके ऊपर एहसान मंद सु आपका नो बोला केसो कहते आठ पैर तक आठ पैर इस मूर्ख हमारे जैसे अन्यायी मतलब अनजान व्यक्तियों को समझाने के लिए दो रोल डबल रोल किए बंदी छोड़ में केशव नौन बैठा है कबीर साहब नौ बैठे स्टेज पे और वो का प्रश्न करे कि बंदी छोड़ इसे गुंडे मुल्क में क्यों आए उस सतलोक न छोड़ के न बोला भाई इसमें मेरे लाल फंसे पड़े से अपने लाला ने ढूंढ के और कार्ड ले जाऊंगा मैं न्यू आ रहा और मेरा काम जब हो जाएगा मैं चला बहुत लंबा वर्णन दे रखा गरीबदास ने ये थोड़ा थोड़ा कल झलक आपको जरूर देंगे तो आठ पैर तक गोष्ठी होती है आखिर में केसो नो कह रहा यू जो कच्छे कबीर साहब आई धरती को ऊपर ना कोई और नहीं है और चालन लागे जब वो केसो कबीर साहब में वही समा जाता है बोल बंदी छोड़ मारा पर शेख तक ही फिर भी नहीं माने ईसा कसूता न्यो बोला चलते आने अब के भंडारा दिया सोसरे ने इसे ऐसे हम रोज जांच महाराज कहें जब अंत आ गया उसकी जबान बंद होगी और बेहोश होकर पड़ गया सिकंदर लोधी दौरा तो गए जी कबीर ने तो आपका पीर मार दिया सिकंदर ने ऑर्डर रह दो मुसलमान पे दिख गया फिर लाए बोले महाराज जी मेरी शात आओगी मैं दिल्ली जान जोगा नहीं रहूंगा इसने जीवित कर दिया उसका चूतड़ा हमारी लात बंदी छोड़ में और उठ के खड़ा हो गया बोला ले जा अपने शेर में तो <laughs> महाराज ने हो गए हैं कि जो मूर्ख कर्महीन इंसान होते हैं ना वो अच्छे ना अच्छा नहीं कहा करें किसी दूसरे की बड़ाई करना और छाती चाहिए बुराई करते तो कोई भी कर सके तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी यानी वो आनंद कर दिए और जो नीच थे मेरे कैसे नो कहे कोई कहे महोत्सा महोत्सा कहे मरे हुए कहूं बस काम चलाओ सा टिकाया करें तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं भाई बड़े बड़ाई कराया करें गाड़ी का ओछा तो यहां कहा कि मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सा सतगुरु हरदम साथी है झूठा प्रचार किया किसे मूरख ने कबीर कर भंडारा दो रोटी का साधन ना था वो बेख जुड़ा अतिवारा झूठा प्रचार किया किसे मूर्ख ने कबीर करे भंडारा दो रोटी का साधन ना था बेख जुड़ा अति बार बन आया के सौ बनजारा नो होता हम आती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु अर्दम साथी है मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी है जब महाराज कबीर साहब नो देखे ना किससे तो काम नहीं बनता तब ये जाखराड़ी आठ में एक जीवा दत्ता नाम के जो दो पंडित थे और उन्होंने नो सुन दिया वह पूरे गुरु बिना तक मुक्ति ना और भाई आम गुरु तो नाम लेवा नहीं परीक्षार्थ उन्होंने क्या किया कि हम एक पूरे गुरु की के पिछाण करा एक बड़ का बड़ बट वृक्ष उसकी सूखी डाली और एक गमले में डाल जैसे पेड़ ला कर ना न्यू गमला बना के और खडासा बना के मिट्टी सी गेर के उसमें गडो दी अब जिस महापुरुष की जो संत होता होगा ना जो मंडलेश्वर होते हैं जैसे भाई गुरुपद के हम्म। उनको बुला के भंडारा देंगे भंडारा देकर उनके चरणामृत जो है लेकर इसमें डाल देंगे जब चरणामृत तो या सूखी डाली हरी होगी तो हम उसको पूर्ण संत मान लेंगे तो उन्होंने बहुत भंडारे दिए एक संत ने मिलावा बीस पच्चीस तो जरूर जाएंगे ल तो वो छक लिए भंडारे करके वह डाली गलन लाग गई पानी से हरी नहीं हुई वो जीवा कहने लगा दत्ता अड भाई धरती व संत नहीं सही इस खत्म हो दिए बंदी छोड़ पहुंचे नो जान लाग रे को नो जा फिर चक्कर काटे उन देखा रे संत सा भाई कह तो बुलाऊ जीवा कर दी दत्ता ने बोला भाई ये दो जोड़े इन संता दाम छिक लिए ये तो भाई कति मेरे रोट पाड़ से हरी नहीं बोल रहे मत ने बोला दिख तो चोखा ब्यों से एक लाए से जब को गणे भी को नहीं है तो। अब चल्ला बुला ला बुला ले जीवा जाकर कहने लगे महाराज जी दर्शन देव एक बार हे महाराज चलियो बंदी छोड़ता चाहे थे आपके दर्शन करके हम करतारत होंगे चाल भाई एवो न सोची रोटी रटे पाछे पूछांगे प्या के गिलास पानी का और पा धोन दागे धो के पा नु बोला जीवा दत्ता बोला जीवा गिर नहीं बार बार का मतलब उड़ा उनका इशारा था अगेरा पिट जाएगा पाछे पूरे खुआवांगे तो उसने ठह गिरा उसमें और गेरते ही खड़े खड़े जन ओडड़ कोपड़ फूट आई हरिया काचा बड़ हो गया दुनिया बोल बंदी छोड़ मारा इस बात ने देख के जीवा ने बोला रहे तो भगवान से पकड़ लिया पांच साइड देसी चूक गया तो नाश हो जाएगा तो जब वह उसने दोनों तो देख का दत्ता क्या बचे थी देव कांत दोनों गट गए बोले महाराज जी कित लोग रहे थे ने बोला भाई मैं आ तो पहला भी जानता पर तुम कोई मानो को करा किस्त तो हुई से हरी सब तुम और किसी के तो मानो पर ई थारा यकीन पेटा वर्ण खातर में ने ई बाणा पड़ा तो यहां आपको हम दिखाते हैं जीवादत्ता से सूखे वृक्ष को महाराज ने कैसे अराज आज भी वो पेड़ जो है ना जो का तू है बंदी छोड़ के लाया हुआ वो कहते हैं लगभग चार किलोमीटर में दो किलो दो मील नून दो मील नून और दो मील नून इतना फैला हुआ है वो बड़े इन लोगों ने बीच से देखने बताया हमारे जो तो कबीर पंथी का हमने देखा वहां जाकर कबीर नाम का मंदिर बना हुआ है और बीच तक काट रखा है पर फिर भी बहुत दूर में का फैला हुआ बड़ बहुत फैल जाता है अगर उसको फैलने की जगह मिलती रहे तो तो वो कहते हैं ईद भी हम ये देखो या तो सूखी थी पहला इस साइड में कति सूखी डाली के ऊपर महाराज का करणामृत डाला और ये इधर दाई तरफ ना आप देख रहे हो ये हरी होगी मूरख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम साथी जीवादता ने सूखे खूंट पे ले परीक्षा बारी साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई जीवा जीवादता ने सूखे खूंट पे लई परीक्षा वारी साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वादारी कबीर बट से जाता पुकारी दुनिया देखण जाती है सतगुरु हरदम साथी है मूरख मनवा काल किचन क्यों सताती है सतगुरु हरदम साथी है सतगुरु अपना अब उसको कबीर बट नाम से महाराज की उस बट को जाना जाता है अर्थात वो वेल नोन है अब कहते हैं एक बार बंदी छोड़ कबीर साहब ने अपने सर्व शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि चौसठ लाख का टोड़ तक इकट्ठा हो गया इतने चमत्कार देख कर बंदी छोड़ के चौसठ लाख चेले हो गए और फिर उन्हें सोची इनमें विवेक भी है कि ये काम में सर इतने तरीके लाग रहे हैं अर्जुन कह रखा भाई गुरु के प्रति विक्षेप आ गया था नरक के भागी गुरु के प्रति अगर आप में कोई विकार आ जाता है कि के बेरा कदे साचे यो बीड़ी बैड़ी पींदा हो दारू पींदा हो या कोई और गलत काम करता हो किसी के कहन सुनता अपने मन में विक्षेप आ गया और पहले उससे गुरु तो सौ काम सर रे और फिर हम का को जो साचे रिसाए हो तो वो उसकी भक्ति निष्फल हो जाती है कभी भी नहीं आन इस बात मन में अगर कोई गुरु क्योंकि पहले तो हम भक्ति नहीं कर दे और करा तो मर्यादा बखरे नहीं उतर दे तो नो फेल हो जा अब कितना तगड़ा प्लेयर हो और फाउल हो गया तो बाहर बैठा दिया जा एक सेकंड नहीं लाऊ जब बोलेगी उसकी बात तो तुरी ही बाहर बैठ जा भाई तो हम पहला तय तो उस सूखे लंगोट पीड़े जावा फिर समय आवा जब फोल होगा बैठ जावा तो ये सारी मर्यादा निभानी पड़ेगी तो क्या हुआ वो चौसठ लाख से सो गए महाराज ने सोची तो है कि देखा था एक वैश्या थी मशहूर काशी की गणित का बोला उसने और वह भी महाराज की शिष्य हो गई थी पर दुनिया ने फीत फिर भी वैश्या की ला रखी वह कति उस कर्म को छोड़ चुकी थी ज्ञान से लेकिन फिर भी हम फीत नहीं तार देता उड़े क्योंकि बाल्मीक डाकू था और उस ऋषियों के नाम से महर्षि हो गया और फिर भी उस जमाने के उसके समकालीन लोग उसने डाकू कहा करते गुड़ा बैठा मौन होया या कि मैं और चाल चाल रहा होगा इधर फिर भी उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने अकीब के में इसकी और दिखेगा साजिब ने लुटा करेगा थोड़े दिन में आज वो महर्षि को आया पर उस समय उनको डाकुआ कहते थे वो अगण का जोश है <clears throat> उसके पास गया तो बोला बेटी अखा महाराज मेरे साथ चलना होगा तने तो अकबंदी छोड़ियो आपका शरीर है कहो तो काट लो अर्थ कहो तो कितना प्रयोग बोला ठीक से रविदास ने बोला भाई मेरे गेल चालेगा कि महाराज जी अभी कोई बात हुई अग देखे दुर्गति हो जाएगी बोला होने दे हाथी लिया किराए पे और शीशी में भर लिया गंगा जल सफेद दनु हथकट दारू और उस वैश्या को बेचारा बैठा लिया आगे रविदास पाछे कबीर साहब और बीच में उसकी कंधे पा धर्रे छोरी के और एक हाथ में शीशी गंगाजल की लोग सोचे दारू पीवे अरण्यो लावा मुंह के अरण्यो कर दे और दुनिया ने सोचे तो अरे देखो हम पहले कहा थे ढेड था तो हाँ ये तो देखिया ना आ गया ना अपनी असलियत पे आ, हाँ, उनके चिल्ला लाओ काट कराइयो रे तारे दिखावा गुरु ने जोन सा भी देखा है नौरत यो गुरु के तो चाला है जब भाई सारे थो हमारा गुरु है नहीं भाई हम तुम्हें जा कर दे मेरे आ रहे उनके होगा फलाना ले गया था मन तय अरे उसने बोका लिया मैं क्या जाऊं वो इन्हों घर चौसठ तो लाख गोली हो गई उसका बेरा पट गया भाई सारे गांव में शहर में तो तो होगी भाई इसी गुंडा आचरण कर दिया और भ्रष्ट कर दिया दुनिया ने जो है हमने थूकेगी भाई कानून का भंग हुआ तो उसमें जाकर शिकायत कर दी सिकंदर लोधी अब जी ऐसे ऐसे आपका वो जो था ना गुरु को थे आप नो को थे वो तो परमात्मा से देखिए गुंडा कर्म कर रखा इस शिकायत आला तोड़ा पहुंचा फिर सिकंदर लोधी ने इस बात की तहकीक करवाने के लिए अपने दूत भेजे इतने महाराज जी आकर के उस वैश्या के घर में फिर बैठ जाते यानी अपनी बेटी समझो पुत्री समझो उसकी उनकी शिष्या समझो अब दो किताब जा रहे थे अर्जुन सर्जुन नाम के दो शस्त्र वो बहुत विश्वास किया करते जब काशी में आए तो सबने बोले रे तारे गुरु जी का दिखाओ चाल चरण अड़जुर्म कर दिया उसने तो के कर दिया एक वैश्या के गेल गल में डाल के और दारू पी कर घूमना करता होता घूम था हम कहा तो थे ना मत फसो इसके उन्होंने बोला वह देख लेंगे तो तसली हो जाए ना हम नहीं मान दे अच्छा अचाल दिखावांगे ईब भी मार उड़े बैठे उसके घर में महाराज जी उनकी खाट पर वह छोरी बैठी नीचे ऊपर बैठी अब जीव अर्जुन सर्जुन नो प्लातून की तरी उन्होंने बोला गुरु जी कहा भाई अकाड़ा नहीं बैठना चाहिए था आपने